भविष्य आज ऋग्वेद के दसवें मंडल के एक सौ उनतीसवें का पाठ होगा चत्वारिंशत्तमाध्यायस्य प्रथममन्त्रपतिष्ठते व्याख्याते च आज यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय का पहला मंत्र पढ़ा जाएगा और उसकी व्याख्या भी की जाएगी ओ गीता वास्तविकं पञ्चविंशतमादिशि आत्मवेक्ता अनुच्छन्दः गांधाश्च स्वरो वर्तते इस मंत्र का दीर्घतमा ऋषि आत्मवेक्ता अनुच्छंद और गांधार स्वर है अतः मनुष्या परमात्मान विद्याएं क्यों प्रयोग किया अब चालीसवें अध्याय का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में मनुष्य ईश्वर को ज्ञान के क्या करें इस विषय को कहा है परार्थम संस्कृत भाषाया ईशा ईश्वरेण सकल ऐश्वर्य संपन्न सर्वशक्तिवता परमात्मना भाष्यम आच्छादयितुम योग्यम सर्वतो अभिव्याप्यम इदम प्रकृति आदि पृथ्व्यंतरम सर्वम अखिलम यत् किम च जगत्याम गम्यमाणायाम सृष्टौ जगत् यद तत् तेन त्यक्तेन वर्षेन तच्चित्रहितेन भुञ्जिथा भोगम अनुभवे मा निषेधे गृह अविकाङ्क्षी कस्य स्वित् कस्यापि स्वित् इति प्रश्ने वा वस्तु वस्तुमात्रम् पदार्थ हे मनुष्य तू यद जो इदम प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत सर्वण सब जगत ज्ञान प्राप्त होने योग दृष्टि में जगत जल प्राणिमात्र ईशा संपूर्ण ऐश्वर्य से सर्वशक्तिवान परमात्मा से वास्तव आच्छादन करने योग्य अर्थात सब ओर से व्याप्त होने योग्य है तेरा उस तक तेरा त्याग किए हुए जगत से उन लिखा पदार्थों के भोगने का अनुभव कर किंच किंतु कस्य किसी के भी धर्म वस्तु मात्र की माँ मत गृह अभिलाषा कर भावार्थक जो मनुष्य ईश्वर से डरते हैं कि यह हमको सदा सब ओर से देखता है यह जगत ईश्वर से व्याप्त और सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है इस प्रकार व्यापक अंतर्यामी परमात्मा का निश्चय करके भी अन्याय के आचरण से किसी का कुछ भी द्रव्य ग्रहण नहीं किया चाहते वे धर्मात्मा होकर इस लोक के सुख और सर्वोच्च की सुख को प्राप्त करके सदा आनंद में रहें इसी वेद स्वास्थ्य है अभी आप पाठ इस आर्यावर्त देश में लाखों ऋषि हुए सब वेद को ही प्रमुख ग्रंथ है मान लीजिए ज्ञान की बातें हैं जिनके माध्यम से मानव जीवन सफल होता है विज्ञान भी अपना महत्व रखता है परंतु भौतिक विज्ञान को लेके चलने में और वेद के मुख्य सिद्धांत को छोड़ने पर व्यक्ति अपने जीवन को सफल नहीं बना पाता है इसलिए हम वेद को ऐसा महान ग्रंथ मानते हैं कि जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जन्म लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है भौतिक विज्ञान की उन्नति बहुत कुछ हुई है और आगे आगे वो बढ़ती चली जा रही है परंतु परिणाम फल यह हमारे सामने है कि बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे साधन बढ़ते जाते हैं धन संपत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे दुख बढ़ता जाता है इसके अंदर जो दोष है उसको नहीं जाने जा रहा केवल भौतिक विज्ञान ही सब कुछ है केवल भौतिक विज्ञान संपत्ति को प्राप्त करने से मानव जीवन सफल होता है ईश्वर को जानने जनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ये जो मन है ये जो बुद्धि है इसमें दोष है और ये दोष मानव जाति को व्यापक रूप से आक्रांत कर चुका है को दबा चुका यदि हम वेद की गहराई में जाते हैं और योगा योगाभ्यास के माध्यम से हम समाधि लगाने का अभ्यास करते हैं तो इस बात का पता लगा सकते हैं कि भौतिक चीजों में जो सुख है उसकी अपेक्षा उससे विशुद्ध पूर्ण सुख ईश्वर में ये वेद की विशेषता ऋषिकृत ग्रंथों की विशेषता होगी आधुनिक विश्वविद्यालय में ये चीज इस रूप में नहीं मिलेगी और जहां ईश्वर का पाठ पढ़ाया जाता है ईश्वर के विषय को पढ़ाया सिखाया जाता है वहां पर ईश्वर का स्वरूप ठीक नहीं मिलेगा उन लोगों ने ईश्वर का पाठ पढ़ाया ईश्वर एक चीज है ईश्वर की पूजा करो ईश्वर का ध्यान करो तो उन संप्रदायों के पास में ईश्वर का जो सच्चा स्वरूप था वो नहीं रहा और कई लोग कहते हैं कि वो जिस रूप में मानते हैं उनको वैसे सफलता मिलती है हम ऐसे मानते हैं हमको ऐसे मिलती है तीसरे तीसरे प्रकार से मानते हैं उनको ऐसे मिलती है छह प्रकार से ईश्वर को मानने से छह प्रकार से सफलता मिलती ठीक है ना आप अपना मत बताइए मिलती है ना बोलो मिलती है ना मतलब छह प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से ईश्वर को मानने से पूजा करें तो सफलता मिलती है ना है अब ये पाठ पढ़ाया जा रहा है दुनिया छह प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से ईश्वर को मानो और वैसे ही पूजा करो सबको सफलता मिलती है अलग अलग मानने की कहने की आवश्यकता नहीं घरों में परिवार के सदस्यों से पूछते हैं आप क्या ईश्वर की उपासना पूजा करते हैं वे कहते हैं हम उपासना पूजा करते हैं कैसे करते हैं ये इस विधि से करते हम तो तो हम उसे पूछते हैं ये विधि तो वेद के अनुसार नहीं है अब वो उत्तर देते हैं ईश्वर की उपासना पूजा किसी भी प्रकार से की जाए श्रद्धा से की जाए उसमें सब प्रकार से सफलता मिलती अच्छा आप आर्यवन विकास में आए ठीक है और एक हरियाणा से आया एक अहमदाबाद से एक राजस्थान से एक महाराष्ट्र से आया और एक ने आर्यवन विकास को माना टंकारा के पास में एक ने माना चंडीगढ़ के पास में एक ने माना बंबई के पास में और सब के सब चल पड़े अपने घरों से तो वो आर्यवन विकास में गए या नहीं गए तो ये ये क्यों नहीं गए आर्यभूमि विकास में बम्बई चले गए वो आर्यभूमि विकास में क्यों नहीं गए चंडीगढ़ चले गए कितने लोग चंडीगढ़ को आर्यभूमि विकास मान के चले तो आर्यभूमि विकास में क्यों नहीं गए अच्छा लोग कहते हैं बात ऐसी है कि कोई व्यक्ति सीधा चला जाता है भगवान के पास में और कोई व्यक्ति घूम करके चला जाता है इसलिए केवल इतना यंत्र है वो सीधा चला गया और एक मोड़ घूम के चला गया यहां से दिल्ली के लिए चला व्यक्ति एक सौ बम्बई होता हुआ दिल्ली चला गया एक यहां से सीधा अहमदाबाद से दिल्ली चला गया गए तो वैसे ही ईश्वर की प्राप्ति में ये मार्ग दिखते हैं ऐसे भिन्न भिन्न केवल मोड़ खा करके वहीं पहुंच जाते हैं अच्छा एक प्रश्न उठाता रहूंगा मैं बीच में क्योंकि आपका ध्यान नहीं आ ईश्वर नहीं आएगा केवल प्रवचन देने मात्र से तो कोई बुद्धि में बात आती नहीं क्यों ठीक है ना जी ये बात है जी ये जितने लोग जो हैं मुड़ करके जाते हैं तो वो भी वहीं पहुंच जाते हैं और सीधे जाते तो वही वहां पहुंच जाते पर एक बात का ध्यान रखा जाए कि ये दृष्टांत तो देते हैं दूसरे प्रकार का और इनकी मान्यता होती है दूसरे प्रकार की दिल्ली जाने वाला सीधा जाने वाला मुड़ के जाने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए दिल्ली का स्वरूप एक जैसा है बताओ क्या समझे आप सीधा जाए तब भी दिल्ली का वही स्वरूप है और मुड़ करके जाए तब भी दिल्ली का स्वरूप में अंतर नहीं है यहां तो इनके दिल्ली के स्वरूप में ही अंतर है कोई दिल्ली चंडीगढ़ को मान बैठा है कोई दिल्ली कलकत्ता को मान बैठा है कोई लाहौर को दिल्ली मान बैठा है अब वो जो दृष्टांत दिया जा रहा है तो गलत दृष्टांत दिया जा रहा है दिल्ली का स्वरूप तो एक है इनके वो जो मोड़ खा के जाते दिख रहे ना वो कोई चंडीगढ़ को दिल्ली मान रहा वो वहां उसको दिल्ली मान के चला वो कोई लाहौर को दिल्ली मान के चला इसलिए दृष्टांत ही गलत है तो एक तो बात ये आई अभी आपने व्याख्या पढ़ी थी ईशा वाष्यम इदम सर्वम यथ किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मार्गधर कश्यस्वी धनम अब इस मंत्र में एक बात कही गई बात तो बहुत है पर एक बात ये कही गई ईशावास्यम इदम सर्वम इस बात के ऊपर ध्यान दो इदम सर्वम ये जो भी कुछ जड़ और चेतन है प्रकृति परमाणु मनुष्य का शरीर लोक लोकांतर ये जो भी कुछ आपको दिख रहा है ईशावाश्यक ईश्वर से व्याप्त है अर्थात ईश्वर सब जगह विद्यमान अच्छा आपको जगता है ईश्वर सब जगह विद्यमान है जी बोलो जी आपको ये बात मन में बैठती है सब जगह विद्यमान है साधक को योगाभ्यासी को ये मन में बैठाना पड़ता है कि ईश्वर सब जगह व्यापक है और जब सब जगह व्यापक मानता है ईश्वर को तो क्या परिणाम निकलता है मन को रोकने में सुविधा हो जाती है क्यों मन दौड़ के जाता है आपको दिखता होगा अथवा आप भेजते हैं बोलो जी मन स्वतः जाता है या आप भेजते हैं तो साधकों को धीरे धीरे मन में ये बात बैठा लेनी चाहिए कि मन स्वयं कहीं भी नहीं जाता कभी भी नहीं जाएगा मन हम भेजते हैं मन को उसमें देखो हमने किसी विषय पर भेजा मन को तो वहां पर भी ईश्वर व्यापक है फिर दूसरे को के पास भेजा वहां पर भी ईश्वर व्यापक है फिर तीसरे विषय के आप सैकड़ों चीजें के पास में भेजिए और पांच को याद रखिए ईश्वर व्यापक है उसमें भी ईश्वर व्यापक है उसमें भी व्यापक है जिस किसी की ओर आपका मन आपके द्वारा भेजा जाए उसमें आप साथ जोड़ते जाइए तो अंत में परिणाम निकलेगा मन स्थिर हो जाएगा इसको कहते हैं व्याप्य व्यापक संबंध तो व्याप्य व्यापक संबंध के आधार पर हम योगाभ्यास करते हैं तो मन के रोकने में सफलता मिलती है और मंत्र में तो बहुत सी बातें हैं उनको थोड़े से समय में ऐसे नहीं बताया जाता बताया जा सकता भी नहीं तो ईशावास्य निधम सर्वम यंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था हे व्यक्ति इस संसार की चीजों का भोग तू त्याग पूर्वक कर मां वृद्ध कश्यसी धनम और अन्याय पूर्वक किसी के धन की प्राप्ति की इच्छा मत अब